और जब इन लोगों से कहा जाता है कि रहमान को सजदा करो तो ये कहते हैं कि रहमान क्या होता है क्या जिसे भी तुम कह दो हम उसे सजदा किया करें और इस बात से वो और ज्यादा बिदकने लगते हैं